एक मांगने वाले ने वो अजाब मांगा है जो काफिरों पर आने वाला है कोई नहीं है जो उसे रोक सके